चाहे जहां जिस तरह चाहे अपने कुदरत से इस दुनिया में अल्लाह पाक ने जैसे रात और दिन अंधेरा और उजाला ऐसे ही मौत और जिंदगी का सिलसिला चलाया पैदा हुआ कि जिंदगी शुरू हुई कि मर गए तो मौत आ गई है ये अब युवकुम अयुकुम अहसन ये ऐसा अल्लाह ने क्यों किया इसलिए किया कि तुम्हें ये देखना वो ये देखना चाहता है कि तुम ये चीजें चमक दमक है धरती की उछल कूद है और ये दुनिया और ये हुकूमत है ये दौलत और ये जमींदारा और ये कारखाने ये फैक्ट्रियाँ ये फर्नीचर ये दुनिया भर इनमें इनमें और इनमें अल्लाह को तो नहीं बुलाते कि उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं उसका कभी तस्वीरा भी नहीं हाई पैसा हाई पैसा हाई दौलत हाई हुकूमत हाई जमीने हाई हाई हाई तुम्हें आजमाने के लिए इसलिए कहा कि दुनिया जो है वो इम्तिहान की जगह है दोनों तरह की चीजें रखती है जैसे अंधेरा उजाला रात और दिन ये सूरज निकलता भी है सूरज डूबता भी है यानी जब दिन होता है तो कैसा और दोपहर को तो कोई आंख नहीं मिला सकता लेकिन जब रुकता है पता भी नहीं चलता काम किया जिस तरह अल्लाह ने रात दिन के का निजाम चलाया है इसी तरह इस दुनिया में हर आदमी के साथ जिंदगी और मौत हर एक के साथ कहीं हो कोई हो और किसी जमाने में हो जो भी दुनिया में आया उसकी जिंदगी शुरू हुई और एक दिन उसको मौत आएगी इसलिए इमाम गजाली रहमत हैं कि हर आदमी का पैदा होते ही आखिरत का सफर शुरू हो जाता है इस जिंदगी का एक दिन गया आखिरत की तरफ चला मौत से करीब हुआ इसमें अल्लाह पाक काबिल को काश्तकार को जवान को बूढ़े को मर्दों को औरतों को मशरक वालों को मगरब वालों को फिर को ये देखना चाहते हैं कि कौन है जो अमलों की रियायत के साथ चीज़ों को कुर्बान करते हैं और कौन है जो चीज़ों और बचकर अमलों को बिगाड़ते हैं अल्लाह तबारा देखते हैं इसलिए जो कहते हैं वो अजीम भी है वो खबीर भी है और वो बशीर भी है बशीर कहते हैं बहुत गहराई से हर चीज उसको सम्मान कभी हम सब बैठे हैं तब रेलवे भी होते हैं सड़क पर भी होते हैं कारोबार में भी होते हैं बीवी बच्चों में भी होते हैं हम माँ बाप के पास भी होते हैं कहा क्या कर रहे हैं अमल बिगाड़ रहे हैं या अपनी मनमानी इसीलिए हजूर ने फरमाया अल कय्यिस मन दान समझदार मर्द और समझदार औरत वो है जो अपने दांत पर काबू रखे सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक आंखें कान हाथ पैर शर्मगा सीने के अंदर छुपा हुआ दिल उसके असर आने वाले ख्याल जज्बात अकलमंद है वो कि जो अपने पर काबू रखे कि कोई चीज जो अल्लाह को नाराज करने वाली हो न मेरी आंख देखे न मेरा कान सुने न मेरी जवाब बोले न मेरे हाथों पैरों की हरकत यहाँ तक के मेरे दिल से जो ख्याल गुजरते हैं वो भी वो अल्लाह की मारिफत के अल्लाह को पहचानने के अल्लाह का ताल्लुक बनाने के अपने को बंदा बनाने के ख्याल में पाकिदा इसलिए वजीबा नमाज वजीबा नमाज को कहते हैं तो अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दिया मस्जिद तकवा अव्वल यौम अहक्क अन तकूम فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتقين प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मस्जिद ज्यादा हकदार है आपका ख्याल इस मस्जिद में होना चाहिए मुझे क्या तो वहाँ ये इसका तो साइड का तो वहाँ पंखे बहुत अच्छे हैं वहाँ ए सी है और वहाँ कालीन है इसका तो कोई मसला ही था ऐसी क्या बात है कि इस मस्जिद में बयान हो रही है ज्यादा आता है तो अल्लाह पाक ने खुद ही बता दिया इस मस्जिद में बयान इसलिए कि इसमें आदमी है आदमी तो बहुत है नहीं इस मस्जिद के आदमियों की खास बात यह है जितने शौक जितने अरमान जितने जज्बात जितने ख्याल सब इनके दिलों की दुनिया से रुखत हो गए हैं एक ही जज्बा बाकी है दिल हमारा पाक हो जाए आंखें हमारी पाक हो जाए हम पाक हो जाए हमारा जाहिर हमारा बाकी हमारा कल्ब हमारा खालिद हमारी जो है हमारा जिसम और ऐसी पाक हो जाए ऐसी पाक हो जाए कि इसी जिसम के साथ बाहर भी जाएंगे इसलिए कहते हैं बाहर की जिंदगी और मस्जिद की जिंदगी दोनों में बड़ा तालमेल है जितना बाहर से सही होकर आएगा उतनी उसकी मस्जिद की जिंदगी सही होगी उसकी नमाज उसकी दुआ उसका अल्लाह का भाव और उसके आखिरत का फिक्र अब जितना बाहर बिगड़ कर आएगा मस्जिद में भी मस्जिद में विपत्या करेगा मस्जिद में झूठ बोलेगा सहमत नहीं लगाएगा तो बाहर जो करता है तो ये मस्जिद ज्यादा हकदार है यहाँ आपको रहना चाहिए इसलिए कितने आदमी है और इन आदमियों की खसूसियत और जो सहाबा के वाकत और सीरत मुबारक है पंद्रह सौ साल हो गए ना हमारे तुम्हारे हमारी तुम्हारी तालीम है हमें तुम्हें रास्ता बताया जा रहा है कि मस्जिदों मस्जिद आबाद करो मस्जिद आबाद चाहे से आबाद करो कैसे आबाद करो कैसे आबाद करो जिस मस्जिद में नबी को भी रहने को अल्लाह फरमा रहे कि तुम अपनी मस्जिद तुम्हारे मशाए तुम्हारे बलमा तुम्हारे बड़े बड़े तुम्हारे बुजुर्गा ने दी कि वो भी इन मस्जिदों में आकर के उनका कि उसकी क्या खास बात है इसलिए साहबा हुआ नहीं जब ये पहुंचे थे ना तो वो हाथ जो उठा कि जितना जो कुछ है अल्लाह के अलावा वो सारा हमने पीछे पीछे फेंक दिया उसकी बड़ाई की जितनी शक्लें तुम सोच सको तुम्हारी सोच खत्म हो जाएगी अल्लाह की बनाई खत्म हो और जितना वो बड़ा उसका रहम उतना बड़ा उसका कलम उतना बड़ा उसके फलाने उतने बड़े उसका बदल उतना बड़ा खा गए वो नाराज हो गया तो उसकी पकड़ भी इतनी बड़ी उसका गुस्सा भी इतना बड़ा इसीलिए हम लोग जो नियत बांधते हैं तो सारा समेत के ले आते हैं आराम अब बीवी से भी मिल लिए अलहमद भी पढ़ रहे हैं अलग भी पढ़ रहे हैं सही रास्ता भी मांग रहे हैं अभी जाकर के बीवी से मिलना है और वो ग्राहक वहां खड़ा है और उसको इतना देना है अल्लाह हम सारा समेत इसलिए वहाँ गुप्ता रहमतुल्लाह इस पर बहुत जोर देते थे नमाज सीखो नमाज वो नमाज जो मोहम्मद ने पहुंचकर दिखाई और हुक्म दिया ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ने देखा लेकिन ये नमाज उतनी ही सही बनेगी जबकि उसकी पहली बुनियाद और उसका उसका पहला कदम मतलब ईमान ईमान के बगैर तो है ही ईमान के बगैर का रोजा रोजा नहीं ईमान के बगैर का हर हज नहीं ईमान के बगैर तो कुछ नहीं और ये ईमान जितना ठोस और जितना सही और जितना अंदर उतरा हुआ उतना दिल को रास्ता दिखाएगा इसलिए कहते थे कलमा बनाओ नमाज बनाओ ये कलमा क्या बनाओ कि अल्लाह के अलावा जो कुछ है हर चीज की इब्तदा मिट्टी और हर चीज की इंतहा हम तुम तो जब मट्टी से बने हम तुम तो जब मर जाएंगे तो मट्टी हो जाएंगे और मट्टी के बारे में पूरी दुनिया का फैसला इसे को तो नहीं होता हाथ में आए होते कोई मुट्ठी भर के दे एक लाख रुपया हाथ में लेकर दी कि वो एक लाख की मट्टी है इसलिए कहते हैं ये दुनिया की चल रोजा जिंदगी जो है ये इम्तिहान के लिए कौन अमल और अमल और की कीमत कैसी बताई ये तुम्हारी तो जबान ढाई तोले तीन तोले की सुहा इतना कहा ओ, ओ, ओ, ओ, अलग पहाड़ से हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद झुग्गी में रहते हैं वहां बैठ के कहा खेत में है ऑफिस में है मार्केट में है सड़क पर चल रहे हैं लेकिन ये कलमा कि सीधा आसमानों की बदल जो है आसमानों को छीनता कर ये खबरें किसकी है साजिको मस्तू मायन देव आदिल हवा जबान हजूर की है बात अल्लाह की पैगाम अल्लाह वो बताते और जब तक कि इसकी मफफरत नहीं होती वो नूरानी स्कूल कमतर होगी की किताबों में है ना तालीम में सुनते हैं पढ़ते वो इसीलिए है कि इसका यकीन इसका ध्यान उतर जाए इसलिए ईमान वालों से सबसे पहले कहा या अल्लाह से डरो जितना जिस आदमी में जिस तालीम में जिस डॉक्टर में जिस वकील साहब में जिस प्रवीण साहब में जिस मोनी साहब में जिस शेखुल अली साहब में जिस इमाम में जिस मुकदमी में जिस खातून में जिस कुमारी बच्ची में जिसमें जितना अल्लाह का खौफ होगा तकवा मिला हसना वो सारी खूबियां और सारी बात जो अल्लाह पाक बंदे बंदी में देखना चाहते हैं कि बंदा सबर वाला भी हो शुक्र वाला भी हो जिक्र वाला भी हो और सला के साजिद भी हो अल्लाह के करीब हो रहा हो अल्लाह रसूल की मोहब्बत वाला हो आखिरत की तैयारी वाला हो सवाल हो और आजिजी वाला हो ये सारी सिफात दीन का दर्द हो दीन मिटने का गम हो दीन दुनिया में कैसे फैले हरेक की आखिरत कैसे बने हरेक जहनम से कैसे बचे ये जितनी खूबियां अल्लाह बंदे बंदियों में देखना करते हैं वो सारी तकवे के साथ कि तको आएगा तो ये सारी चीजें जैसे हमने जो मदद में पढ़ा तो वहां समझाने के लिए मिसाल देते हैं महा का तर्जुमा साथ वो महा है ना महासालीन तो मी महान का वो समझाना चाहते थे कि ये जब तो क्या कहा चाल बर्द जुब्बा वो महा के माने में है उसको समझाना चाहिए सर्दी आई गरम कपड़े लाई स्वेटर लाई चुप्पे लाई शाले लाई कम्बल लाई लिहाज लाई रजाई लाई क्या हीटर लाई सर्दी आई जाल बर्दोल जुब्बा तकवा आया सबर लाया तकवा आया अमन लाया तकवा आया अल्लाह की दोस्ती लाया तकवा आया जन्नत का रास्ता लाया तकवा लाया खुदा रसूल तकवा आया बरकतें लाया तकवा आया रहमतों की बारिशें लाया तकवा आया अल्लाह की कायदे लाया जा अलबर्ट रजुपा इसलिए कुरान में भी किया कि ला जारी कर किताब ला रही बफी उधर उधर दिल मुट्ठा मुत्ताफी जब आगे तीस पार पार जो जिंदगी इम्तिहान है क्या कर रहे हो तकवा बना रहे हो या तकवा के खिलाफ वो जबान का बोल है कि जिससे जन्नतों के सौदे हो या वो जबान का बोल है कि जिससे जहन्नम खुले वो है ना मरतबा ईद के दिन औरतों के मरने में आए या माचर मिसाल أن أكثر أهل النار تكفرن العشير فتكفرن اللعن और की जमात मुझे अल्लाह की तरफ से दिखाया गया कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें हैं क्या ये दो दो ऐप तुम्हारे में हैं शोहरों की नाशुक्री ना अपनी सारी उम्र जो कुछ है तुमने क्या किया जो बिखरे जो बिखरे और आपस में जानता हूं लेकिन आजकल तो छोटे लड़के भी लड़कों का बार मतलब लड़के चलते नहीं सड़क पर पता नहीं चलता कि लड़का जा रहा है कि लड़की जा रही है उसके कपड़े तो ये जैसे लड़के लड़कियों से किसी सूरत भी बनाते हैं उनका सा रिवाज करते हैं इस तरह जब मर्दों में भी ये दोनों बातें आ गई ना शुक्री ही ना पर क्या आ गया है कुदरत ने कुछ भी नहीं भैया पर अपना गुजारा कर रहे हैं एक आदमी ने हजरत आनी नंबर अल्लाह उमर को खत लिखा बहुत सारी तकलीफें थी इसको तो अपनी तकलीफें वगैरह लिखी घर की बच्चों की कारोबार की जवाब में लिखवा ये तो शायद लेकिन जो न्यामतें आपके पास है आंखें हैं कान है जबान है दिल है तंदुरुस्त हो इसको तो आपने लिखा ही नहीं तो अब मर्दों में भी ये बात आ गई है हर वक्त हर एक लखपति की जबान पर भी शिकायत करोड़पति की बिना शक्ति अगर पति की दो कारखाने हैं उसकी बिना बिजली पांच छह कन्या है उसकी बिना बिजली और फिर सूरत से निकल कर आगे वो कहाँ कहाँ है ठीक है आप तो दुनिया में है जी रहे हैं खा रहे और अल्लाह क्या कहते हैं शुक्र करोगे तो के दरवाजे खोल देंगे लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त आती है जब अल्लाह का खौफ अंदर में आ जाए अल्लाह अरबक यार अल्लाह कोई देखे न देखे मेरे दिल में मेरे पास की नामत की नाकदरी आई वो भी अल्लाह जानता और मैंने अल्लाह की नामत का शुक्र अदा किया अल्लाह मैं तो इस काबिल नहीं था तूने मुझे फूट पानी दिया मैं तो पतले का भी हकदार नहीं वो जो आया वो भी अल्लाह जानता इसलिए ध्यान की जगह हर एक मस्जिद में आओ मदरसे में रहो खान में जाओ सड़कों पर चलो कारोबार करो रात के अंधेरे में दिन के उजाले में जवानी में तंदुरुस्ती में खाने में पीने में अमल की रियायत के साथ चलते हो या अमल बिगाड़ कर अपने जज्बात अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हो और ये अल्लाह के समझदार अकलमंद वही है जो अपने पर काबू कि अपने आंखों से लेकर के पैर के नाखून तक और दिल के ख्याल और फिक्रों तक मेरा फिक्र क्या है इसीलिए मौलान शिक्षा रसुल्ला फरमा करते थे खाली आने जाने का नाम तबलीज तो नहीं है हम उनके मशवरे में भी होते हैं हम गुजरात को भी जाते हैं हम शहर वगैरह भी लगाते हैं हम चार महीने भी अब तो चार महीने की तश्कील है नहीं छोड़ दो है अरे वो दो साल बाद अपना जो इज्तिमा होने वाला है? है? दो साल बाद तो होगा ना कब होने वाला है और इज्तिमा कब होने वाला है शरद का चार पाँच छह सितंबर नवंबर जनवरी जनवरी माना शिक्षा साहब फरमाते थे खाली आने जाने का नाम करते हैं हमारी सोच बदल जाए और वर्षा परमात्मा सोच जो है ना सोच वो है स्विच हम कहते हैं स्विच को आप करो तो रोशनी डाउन करो तो दोनों जगह क्या अलग अलग है वहां वहां अप डाउन में अंधेरा उधर होता तो है अपने यहां तो अप डाउन में अपने यहां डाउन करो तो रोशनी होती है और अमेरिका में डाउन करो तो अंधेरा हो जाता है उनके जैसे ये तुम्हारे ड्राइविंग कहीं लेफ्ट हैंड कहीं राइट हैंड के स्विच है अल्लाह की मोहब्बत की मोहब्बत कुरान की मोहब्बत सुन्नतों की मोहब्बत उसको सोच रहे हैं तो ये स्विच अंदर में नूर लाती और अगर इस चीज को इस्तेमाल किया पैसा दौलत बड़ी पोस्ट ज्यादा जमीने अच्छा बंगला तो अंधेरा हो गया फरमाया करते थे दुनिया के तस्करे दिलों में जुलमत लाते इसलिए हमने कहा माई तौर पर भी इंतजारी तौर पर भी अकेले के दो चार पांच बैठे हैं कि बातें करो तो छह नंबर के अंदर अल्लाह की बड़ाई अल्लाह के रहमत अल्लाह को राजी करना अल्लाह के खजानों की उसरत उससे फायदा उठाने के नमाज अल्लाह के नबी ने चाबियां ला के भेज दी आज मुझे ये मसला मालूम हुआ आज मैंने मोदी साहब से पूछा तो मुझे उन्होंने ये बताया मेरी तस्वीर पूरी हुई है हमला मैंने अल्लाह की बात और इसके साथ दुआ मंगा ए अल्लाह मुझे अपने उन बंदों में से बना दे कि जब उनसे कोई नेकी का काम हो तो खुशी की लहर दौड़ जाए अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा तिलावत का पारा पूरा हो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मस्जिद का बैठा अल्लाह ने मुझे गश की तोफीक ये खुशी की लहर जैसे दुनियावाद किसी ने दूसरी जगह है अहलित दुनिया में दुनिया तो अपनी आईनी में इबादत अल्लाह जैसे दुनिया वालों की आंखें तुमने दुनिया देखकर ठंडी की जो दुनिया चाहते हैं और उन्होंने अपना सारा शत्रु लगाया उनको दुनिया दे पैदा अपरस अहलित दुनिया में दुनिया हूँ जब दुनिया वालों की आंखें दुनिया देकर ठंडी की है मेरी आंख अपनी इबादत से अपनी फरमा बरदारी से खरीदी कर बापरे तो राय नहीं है इबादत कि तेरी इबादत से मेरी आंखें अलहमदिल्ला आज मेरी चाट भी हुई आज मेरी शराब भी हुई आज वो जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने ईशा की और फजर की नमाज जमात से पढ़ी सारी रात उसकी इबादत में लिखी गई यह है तो सहाबा है ना ये मौलाना इजाज साहब रहमत ने मौलाना यूसुफ साहब रहमत से कैसे शुरू कराई सारे सहाबा की जिंदगी हयात हयात के मन जिंदगी सहाबा की जिंदगी कैसी थी और हमें उस जिंदगी के रंग में रंगना है तो सारा तीनों जिंदों में शुरू कैसे कराई मौलाना यूसुफ साहब रहमत बहुत इलमी आदमी थे किताबों में दोनों हजार मौलाना साहब रहमत कि जब किताब देखते थे तो कौन आया कौन गया क्या हुआ कहा कुछ पता नहीं किताब अंदर उतर गया कभी कभी मुतवजा करने के लिए एक म्याजी थे हमारे तो साहब के पास जयपुर की ओर नीचे आती थी नागरा उसके ऊपर सही का काम और बहुत अच्छा काम है वो बड़े हजरत के पास आई जो ज्ञानी राजा यूसुफ को लेके आओ वो ऊपर अपने कमरे में पड़ रहे बहुत देर तक आकर वो यहाँ भी बैठे रहे ये तो सीधा के पीछे हुए थे बहुत देर के बाद क्या है अखबार जी ने ड्यूटी रख गया चल पढ़ने दो ये सारा मजमा इन वाला और साहबा की जिंदगी इनके सामने आ गए यूसुफ एक दिन तमाम वो रिवायत में आता है कि ईशा की नमाज के बाद जो थोड़ी देर के लिए ऋण की बातें करता है सारी रात उसको उसकी इबादत उसकी रात जेब है तो माशाला तुम तो पढ़ते रहते हो तुम तो हमारे दिल जाता है थोड़ा सा ये लोग भी होते हैं उस वक्त थोड़े थोड़े लोग होते थे इनको भी सबको सुना दो बहुत अच्छा यहां से शुरू हुई और फिर ताल्लुक इतना था और इतना अंदर उतर चुका था कि जब किसी सहाबी का वाकया सुनाते थे तो जैसे कोई आदमी कहे ना कोई आदमी मुझसे यूँ कहा ये तुम्हारे मामू हैं और तुम्हारे मामू ये हैं ये तो मैं उससे कहूँगा मामू मेरे हैं ना तो तू क्या मुझे तारुफ कराता है मैं जानता हूँ मेरे मामू क्या है हजरत खालिद ने वली अमृत ने आस हजरत بن وقاص سعد بن عبادة سعد بن معاذ أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله अल्लाह अशरे رضي الله अल्लाह उनमें से किसी का अगर कोई वाक्य पढ़ते थे तो ऐसे मन जैसे घर के किसी आदमी का आरोप करा एक मरतबा बदर का वाक्य पढ़ा ये मैं सारी इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारा खाली आना जाना और खाना पूरी न हो हम तालीम में भी बैठते हैं हमारी मस्जिद में बैठ भी होता है हमारी मस्जिद में तालीम भी होती है और मशरा भी होता है अपने भी होते हैं बारह खाली खाना पूरी नहीं हर व्यापारी छोटे से छोटा खाली पानी वाला वो भी एक शाम को दुकान बंद करते हुए यूं सोचता है कि आज बिक्री कितनी हुई आज नफा कितना होगा सोचता नहीं सोचता और फिर दूसरे दिन उसमें जाति कैसे हो अभी हमारे हड़ताल का ये जहन होता है ये दुकान मरी कैसे हो मेरी दो दुकानें कैसे हो क्योंकि हमने जितने अमाल दिए हैं सुबह से लेकर शाम तक जितना जो कुछ अल्लाह की तोफिक से हुआ रात को सोने से पहले आज अल्लाह का जिक्र कितना हुआ आज कुरान कितना हुआ आज मैंने कितने आदमियों को दावत दी आज मैंने कितनों की तस्वीर की आज मैंने इज्तिमा के लिए क्या कोशिश मैंने इंशाला कल को इससे ज्यादा कर हमारे अंदर की है इसका इसका नाम है मस्जिदवार नमाज मैं कह रहा था साहब खाली आने जाने का नाम कर देंगे हमारी सोच बदल जाए ये क्या सोच बदल जाए कि जैसे हमारी नमाज रोजाना हजूर पाक सल्लासम की नमाज के करीब हो रही अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की अहमत अल्लाह का खौफ अल्लाह को राजी करने का शौक वो रोज आगे बढ़ रहा ऐसे ये काम इसके तकाजे इस पर मत लिखना वो मकामी हो या आलमी हो महीने के हो या साल का हो कि उसमें रोज इजाफा हो रहा जब ये होगा कि जैसे तूने दुनिया वालों की आंखें दुनिया देकर ठंडी की है अल्लाह अपने हुक्मों पर चलाकर अपने दीन का दर्द देकर उम्मत पर शफकत देकर अपने नबी की मोहब्बत देकर मेरी आंखें ठंडी गई हमें सिखाया है ये इसलिए कहते हैं कि तालीम में बैठे तो बयान में बैठे तो खुद की बयान करे तो ये ध्यान हो क्या इस पर ये मिलेगा माने सुशागर फरमाते जब भी कोई अमल करो तो उसकी फजीलत और उस पर जो अल्लाह का वादा है जो आदमी घर से मस्जिद की तरफ चलकर आता है क्या बदलत है कि जैसे घर से जैसे घर से एहराम बांधकर है नहीं कितना बड़ा था कहने ईश्वर क्या राम हुआ मेरे अल्लाह देख रहे हैं और कैसे में और हर कदम पर एक नेकी एक खतामा हर एक दरम और ये कबूल हो गया तो इस कदमों पर क्या क्या जन्नत के दर्जे और क्या क्या मिले इसके इसके ध्यान के साथ इसलिए महाराज फरमा सकते ईमान बनाओ दावत जितना ही अल्लाह की बड़ाई अल्लाह के अहमद अल्लाह से होना गैर से किसी से कुछ ना होना किसी के हाथ में ना पाना नुकसान जिंदगी ना मौत ये जितना बोलोगे इतना दिल में अल्लाह की रात से बात नहीं मान एक कलमा बनाओ हर एक नमाज नमाज इस नमाज में पांच बातें होंगी इस नमाज पांच बातें होंगी वो नमाज कितनी ताकतवर होगी जैसे दुनिया कहते ना ये, ये पैसा इतना ताकतवर और वहां का वहां का और वहां का और वहां का कि फिर अल्लाह के रास्ते में निकल कर नमाज रमजान में नमाज काले में नमाज ईमान की राह में मेहनत करते हुए नमाज इसको सोचे फरमाते थे पांच बातें इस नमाज में पैदा होगी कलमे वाला यकीन फजाइल वाला इन मसाइल वाली शक्ल अल्लाह वाला ध्यान और इखलास वाली नीयत याद हो गया चलने वाला करने वाला यकीन फजाइल वाला इन मसाइल की शक्ल अल्लाह का ध्यान और इखलास वाली भी है फिर फरमाते थे कलमे वाला यकीन आएगा कलमे की दावत से जितना अल्लाह के हर गैर की नफी करेंगे उतना अल्लाह की जात से होने का यकीन दिलों में इसको पहले इसलिए कि असल से हर चीज में असल ईमान है फजाइल वाला इल्म फरमाते थे ये जो हमारी फजाइल की किताबें हैं फजाइल कुरान फजाइल नमाज फजाइल तबीर फजाइल जिक्र एक आयत सहाबा फजाइल सरकार ये सारे जो फजाइल हैं इसका इल्म उसके ध्यान के साथ मैं खड़ा हूँ कि बंदा जब में होता है तो अल्लाह की रहमत है अल्लाह कितने खुश होते हैं जैसे सब होती है कोई तो उसको देखकर अल्लाह कितने खुश होते हैं ये फजाइल वाला है कि वो मिलेगा तालीम के हल्कों में जमकर बैठने से और ध्यान से सुनने से हमारी मुश्किल ये है कि हम होते भी हैं नमाज में होते हैं बाहर होते हैं बाहर तो बाहर है नमाज में होके भी बाहर तालीम में होके भी बाहर तस्वीर के दाने गिर रहे हैं और गफलत इसलिए हमें अपने बारे में बहुत ज्यादा विचरण कि भाई अगर काम करना है तो उसको मन अहसन अमला लियबलुवकुम अय्युकुम अहसन अमल खाली अमल नहीं अल्लाह ने मौत और हयात की तरतीब बनाई है जिंदगी और मौत का ये क्यों है कि तुमको है तुम्हारा इम्तिहान ले कहेगा कि कौन अमल बनाता है लेकिन साथ के साथ क्या कहा अयुकुम अहसन अमला सबसे अच्छा आगे हमारे और जो अरबी जानते हैं वो जानते हैं हसन नहीं कहा तुम हसन अमला ये नहीं कहा हसन अमल ये अरबी गिरावर के अतिबार से अरबी नहव के अतिबार से इसको तफसील का सेवा है कौन कितना किस अमल को अच्छे से अच्छा ईमान की बात को ईमान की मस्जिद में गश को तालीम को नमाज को जिक्र को कुरान कौन अच्छे से अच्छा कि हमने मौत और हयात की तरतीब बनाई है तुम्हें दुनिया में रखा है ये देखने के लिए पहली बुनियाद तो ये कि कौन अमल के लिए अमल के लिए चीज को कुर्बान करता है और कौन चीजों की वजह से अमल खराब करता है अगर ये हुआ जैसे आंख हाँ, का अमल है बताया ना कि जो जिसने न देखने की चीज से अपने आंख बचाई जैसे कोई गैर महरत औरत लड़की हो और जो भी वे अल्लाह पाक ने कहा कुल्लिनी नए ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों की अपनी नजरों की हिफाजत करें उसको झुकाएं अब कोई बहुत खूबसूरत लड़की जा रही है एकदम से नजर पड़ी मेरा अल्लाह उसको अब ये इसमें नाम का वादा किया कि जो न देखने की चीज से बचेगा पहला इनाम किस दुनिया में उसको जो अल्लाह देंगे इबादत की लज्जत देंगे जैसे बारह हांडी में एक लज्जत है बिरयानी में लज्जत है गुप्तों में लज्जत है रसगुल्लों में लज्जत मुंह में पानी आ रहा है उसमें लज्जत है ना कि फिर अल्लाह का नाम लेने में एक लज्जत है दुआ आज आप मांगने में और कम और कम और कम और कम और कम इसमें लज्जत कि जो न देखने की चीज से अपने को बचाएगा और उसको देखना कि ये बद नजरी है और बद नजरी को क्या कहा शैतान के तीरों में का एक तीर है इसी के रास्ते से जाता है फिर दिल जख्मी होता है कान जख्मी होते हैं जबान जख्मी होती है और आदमी जख्मी होके गुनाह में मुलवस हो जाता है इस पर पाबंदी इसलिए का ही समझदार समझदार वो है जो अपनी जात पर काबू पाए बोलने ही के बोल बोले देखने ही की ले देखे करने ही के काम करे बचने की चीजों से बचे बहुत समझदार है ये पहला इनाम देते हैं बात की वो बात मतलब लोग शिकायत करते हैं बस सर पहले तो मेरे दिन दिन में जाता था तो रोना भी बहुत आता था और दुआ में भी बहुत जी लगता था और और कष्ट भी बहुत ऐसा थे उस कष्ट से उनका जमात तैयार हो अब तो हाथ उठाने को भी जवाब है तबियत नहीं लगती तो यूं नहीं होता यू कहते हैं जैसे दुनिया वाले कहते हैं पैसा पैसा पैसे को खींचता है, है? कि गुनाह गुनाहों को खींचते हैं कि वो कोई बेअदबी कोई गुस्ताखी कोई कोई गुनाह जो किया है उसने दूसरे गुनाह और होते होते होते कि अब दुआ की लज्जत से महरूम जिक्र से महरूम महरूम इसलिए कहते हैं हर आदमी को सबसे ज्यादा अपना फिक्र है कि मैं किस रुख पर चल रहा हूं मेरे अखलाक में कितनी तरक्की हो रही है अल्लाह का ताल्लुक है तो ये अल्लाह ने हमको इस जमाने में ऐसा परमिनंट नुस्खा दिया जो अमल है ये बिल्कुल परमिनेंट नुस्खा जैसे सर के दर्द की गोली करोड़पति को सर में दर्द हो तो भी डॉक्टर ये तो एस्पिन ले लो कहते और वो करोड़पति के घर में झाड़ू देने वाली उसको सर में दर्द हो तो उसको भी दो एस्पिन ये परमिनेंट दवा ऐसे ही हमारे इंफिरादी और इज्तमाही मकामी और बाहर के जितने आमाल है ये परमिनेंट नुस्खे है बेघरी के साथ भी वो गोली खा ली वो अपना काम करे थोड़ी देर के बाद भाई क्या हाल है सर के दर्द का तुम कह रहे थे बहुत दर्द है नहीं वो हॉस्पिटल खासा फर्क हो गया पचास फीसद तो कहता बिल्कुल ठीक हो गया फ्रेश हो गया अल्लाह हमें आमाल का शौक अमाल की लागत कितनी है मेरे तो इस महीने के जो तीन दिन लगे हैं पहले भी बराबर लगाता हूँ लेकिन किस तरह के तीन दिन में तहसील में जब उठा और आंसू आए और दुआ मांगी मेरे तो अल्लाह राजी हो नमाज मेरी जानकार हो तो फरमाते थे जिस नमाज में पांच बातें कलमे वाला यकीन कि ये आएगा कलमे की दावत फजाइल वाला इल्म कि ये आएगा तालीम के हल्कों में फजाइल के हल्कों में मसाइल वाली शक्ल तो हम तो जानते नहीं कि अब ये मिलेगा और के राम से सर्दी में सर कैसा हो नाक में रुकू में कहा देखे कयाम में कहा देखे सलाम फेरे तो कितना रुको है जैसे बात नहीं जाते हैं क्या करें शराब मकलू है कि शराब करे तो बाप सीधे कंधे की तरह नीयत के इस रूप पर जितने हैं सबके लिए अल्लाह की रहमत सबके लिए अल्लाह नियत पे सिखाई ये सारा मालूम होगा उलमाए किराम से इसलिए उलमा की शहबत उलमा से पूछना बस जिक्र इन तुम तुम ला कलमे वाला यकीन कलमे की दावत से फजाइल वाला इल्म फजाइल की तारीफ के हल्कों में जमकर ध्यान से बैठकर सुनने अमल की नियत करके उससे मसाइल की शक्ल उलमाए नाम से पूछने अल्लाह वाला ध्यान जितना इसलिए कहते हैं कि तस्वीरात तो ये तीन है तीसरा कलमा गुरु शरीफ बाद पूरे कुरान का खुलासा है अल्लाह रसूल और बंदा तीन है चौथी को चीज है वो चौथी चीज है तीसरा कलमा दुरुप शरीफ और इसके बाद अल्लाह रसूल आप अल्लाह लेकिन हम ये तीन तस्वीरें हमने सुना मुझे तो मालूम था बहुत ताजी होता है जो लोग नमाज के बाद गए थे इतनी जल्दी कैसे उसने तीन मरतबा कह दिया मैं तो उनसे कहता है हमको भी सिखा दो इतनी जल्दी हमारे तो होता ही नहीं खेल नहीं बना अपनी शहादत में ये गंदी जबान सुभान इस जबान पर कि जो अल्लाह इतने पाक के जो उसकी पाक की बयान करे उसको भी वो पाक कर देता जैसे कहा ना कलिमा तजीबा कि वो ऐसा पाक है ऐसा पाक है कि सौ साल की गंदगी के ढेर लगे हैं एक दफे प्लास्टिक कह दिया सब पाक तो फजाइल का इल्म मसाइल की शक्ल अल्लाह का ध्यान और ध्यान के साथ इखलास वाली के असल तो जो कुछ दुनिया में हो ग्रहण हो अल्लाह हमारा हमसे राजी हो जाए इंसान है हम फरिश्ते नहीं है हम तो मस्जिद में भी आएंगे बाजार में भी जाएंगे सड़क पर भी चलेंगे कारोबार भी करेंगे शादी भी करेंगे बच्चे भी सब कुछ होगा लेकिन हर अमल में ये हमारे जो फरमाते थे मौलाना याम हुसैन के बाद मरतबा आदमी सुबह से शाम तक बहुत अच्छे अच्छे अमल करता किसी को पानी पिलाया किसी को बैठने को ठीक है दी किसी को किसी के साथ हंसते कह माँ खा लेते लेकिन इन तीनों में पानी देने में जगह देने में हंसते चेहरे मिलने की कोई नीयत नहीं थी ठीक है तो क्या अमल की कीमत तो जब बनती है जब उसकी नीयत हो जब नीयत ही नहीं है दिन भर में बहुत अच्छे काम किए लेकिन नीयत न होने की वजह से कुछ नहीं है तो एक मरतबा सुबह में ये नीयत कर लो अल्लाह आज दिन भर आपकी कॉफियत से अल्लाह की काम में तो होगा तो होता है आपकी तोफीक और आपकी मदद से जो भी कार्य खैर करूंगा नियत मेरी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको राजी कर देगी तो अब हमको डर नहीं है अल्लाह राजी होगी इखलास वाली है उसी के साथ अल्लाह आंखों के कानून के जबान के कमाई के खर्च के जितने गुनाह हैं उन गुनाहों से आपकी मदद से बचूंगा उसमें भी नियत करता हूं वो गुनाह से बचना भी सिर्फ आपको राजी करने के लिए होगा इसकी बाकायदा नियत कर लो सुबह को तो शाम तक जो अमल करोगे इखलास वाला होगा और इसकी मश्क नमाज इसकी मश्क करनी है नमाज में जैसे ये तुम्हारा कंप्यूटर सीखते हैं तब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कंप्यूटर सीखते शुरू में जब सीखते हैं दो हरफ जुड़ते हैं अहमद लिखना है एच तो एम से है ना ये एच एम ई डी ये भी खराब है लेकिन जब उसको प्रैक्टिस हो जाती है ना तो सामने पेपर कंप्यूटर उंगलियां उस पर मैं यार तुम कल आए नहीं मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा सारा कागज हो गया जब अल्लाह का ध्यान कोई आए कोई जाए कोई खाए कोई पिए कोई कहीं कुछ हो अल्लाह मेरा मुझे देख रहा है अल्लाह मेरा मेरे साथ है अल्लाह की मदद मेरे साथ है हुआ माकुम ऐना माकुम तुम तो तुम आइनमा तुम तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ इसीलिए हजूर अकम ने अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले को पहले दिन जो पहला सबक पढ़ा था अल्लाह के रास्ते में डाले थे ना हिजरत करके हिजरत क्या है अल्लाह के रास्ते में निकलना हजूर और सिद्धियत का रजी अल्लाह दोनों थे हालात लेकिन ये तो तय है जो जितना नबी के काम को अपना काम बनाएगा उसके बाद वो हालात उन हालात के अहकाम अगर हुक्म पूरा कर लिया पार हो गए शिकवे शिकायत की अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था अहवाल की हिकायत हालात की हिकायत शिकायत है बिल जलाल इकराम की क्या मेरा दिल माया मेरे हो गया वो काम बार बार वो लड़का और ये हालात है उसको कहना ये उसकी शिकायत है जो ये तुम्हारे लड़का का और तुम्हारे कारोबार का किसने किया किसके करने से हो तो तुम अल्लाह की शिकायत कर रहे हो तो उसी से कहने की बात है कमजोर है सही है ये बस बेकस है आप ठीक कह रहे हैं आप कर लीजिए आप तो इसकी मश करना ऐसी मश हो जाए कि कहीं भी हो जैसे मैंने मिसाल दी ना आपको सामने पेपर भी है उंगलियां है और उसका एक दोस्त आया अब कल बात हुई थी कि भाई तुम आओगे तो अपने तो ये सब कुछ कर भी रहा है और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है अल्लाह के रास्ते में निकल कर करने वाले यकीन की फजाइल इल्म फजाइल के इल्म की उलमा की शहबत की इल्म हासिल करने की अल्लाह का ध्यान बनाने की और अल्लाह को राजी करने की पांच पापों की इतनी करें इतनी करें कि दुनिया में जो कुछ हो रहा हो ये पांच स्वतः के साथ जिस नमाज में ये पांच बातें आ जाएंगी ये तुम्हारी किराने होती है ना किराने पूरी गाड़ी उठा लेती है, है? और जो बोरिंग होता है तो बोरिंग होता है ना कुओं में बाप को पानी देना है और कैसे कैसे फल अंगूर सेब आम आड़ू अब थका सबको पानी देना है लेकिन पानी है नहीं तो बोलो बोलो करके और तीस फीट चालीस फीट जहां तक नहीं लेकिन जब बोलिंग हो जाती है तो फिर मशीन लगाते हैं इंजन लगाते हैं ना उसका मोटर मोटर कहते हैं मोटर चालू की और वो पाइप के रास्ते तीस फीट गहराई में है थोड़ी देर में आके सारा बाप ये बोरिंग होती है ऐसे ही ऐसे ही जब मुजाहदों के साथ कुर्बानी के साथ अल्लाह के सामने के रोने धोने के साथ कि जैसे ये मोटर तीस फीट की गहराई से पानी को उठा के बाहर लाती है ऐसे ये पांच बातें जिस नमाज में होगी अल्लाह के हजारों से रहमतों को बरकतों को तारीखों को मददों को दुआओं की कबूलियत को खींच के लाए इसीलिए कहा अल्लाह जैसे दुनिया वालों की आंखें तुमने दुनिया लेकर ठंडी कर दी मेरी आंखें तेरी नमाज तेरी नमाज से दुआ से तेरी इबादत से ठंडी है कि हमारा शौक बदल जाए इसलिए कि बीमार आदमी को बीमार आदमी जो होता है ना उसको मीठी चीज भी कड़वी लगती है अब चाय में दो चमचे चीनी डाली बुखार है और अम्मा अम्मा ने बनाई अपने हाथ से अम्मा मैंने तो आपकी कोई ऐसी बेअदबी नहीं की है मैंने तो आपको कुछ कहा नहीं है आप मेरे से किस दिन का बदला ले रही क्या हुआ मुन्ने अम्मा चाय इतनी कड़वी तो अम्मा कहते तो मेरी आंखों के तारे और मेरे जिगर पारे ये तो मैंने अपने हाथ से बनाई है और देखिए शकादार मैंने बोल अम्मा तुम बहुत बुजुर्ग हो और तुम राजा बसरिया हो और तुम सब कुछ हो लेकिन चाय कर भी है बेटा चाय कर कड़वी नहीं है तुम्हारे मुंह का बजा बिगड़ा हुआ है बुखार की वजह से जब दवा लोगे हमें अल्लाह के रास्ते की नकल नकल हटकर अपनी कुर्बानियां बढ़ाना सर्दी गर्मी सहना अपनी तबीयत के खिलाफ कड़वी कड़वी कड़वी नहीं है जब मजाक सही होगा जब ईमानी जॉब होगा जब दीनी जॉब होगा जब खुदा रसूल का प्यार होगा तो ये चाय की प्याली अम्मा से भी कहता है अम्मा तुमको कुछ मालूम भी है क्या आजकल तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि शुगर कम इस्तेमाल करो छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर हो जाती है अम्मा ये तो शरबत है बेटा ये वही है जिसको तू कल भी कह रहा था हर मस्जिद से चार महीने की जमात हर आदमी चार महीने चार पांच छह को जो इज्तिमा होगा वाली का पूरा शहर खाली हो जाएगा सारी तो साहब ये तो बहुत ये तो शरबत है जिसको कल भी कह रहा अभी आएगा मौलविया सिंह कौन सी मस्जिद आएंगे वो दूसरे आएंगे अरे किसकी मस्जिद मस्जिद लिखवाओ अपने लिखवाओ मस्जिद ये क्यों नहीं लिखवा रहे अम्मा ओ अम्मा ऐसा बदलाव मत मतलब उतारो इतनी करनी चाहिए सारी दुनिया मीठी पीती है और सारे सहाबा ने सारे सहाबा चले सारे नबी चले नबियों के सरदार चले धूप गर्मी सर्दी धूप सब बर्दाश्त किया ठीक है ये सबने पी है तुम्हारे छोटे भाई ने भी पी वो भी कह रहा था कमा मीठी और भाजी से पूछो बहन से पूछो वो तुम्हारी भाभी आई हुई थी उसको भी दी थी उसको पूछो सबने कहा अम्मा बहुत मीठी है तू ये कहता है कि चार महीने हमारी मस्जिद मैं चला जाऊं ये तो बहुत कड़वा है ये कड़वा नहीं है यही मीठा है तुझे मजा ये बुखार उतारने की जरूरत है इसलिए कहते हैं जो बीमार हो जाए ना आदमी डॉक्टर देखते नहीं कहते तो आपको इलाज करना पड़ेगा लेकिन इस वक्त जो जरासीम जो पानी आपने पिया है उसमें तो आजकल बहुत जरासीम होते हैं इस वक्त में एक नकद डोज जो है नकद डोज फॉरन एमरजेंसी कहते हैं उसको एमरजेंसी ये डोज आप ले लो ये मैं आपको देता हूँ डॉक्टर अपने हाथ से बना के इसको ले लो थोड़ी देर के बाद आपको मखाना आएगा और उसमें वो जरा से निकल जाएंगे आप फ्रेश होते जाएंगे मैं भी ये कहता हूँ कि जितने रहते हो इस वक्त में एक नकद दोस्त तो ले लो कौन सा कौन सा नकद इस पूरे महीने में कोई ऐसा है जिसने अभी तक चार महीने न लगाए हों और चार महीने एक साथ न लगे हों और वो बैठा हो और वो यूं कह दे कि मौली साहब ये दोस्त तो मुझे दे ही दो है कोई ऐसा माई का लाल जो खड़े होकर यूं कह दे मैं चार महीने पे जाऊंगा बीमार रहना पसंद है है ना बीमार चलते रहे दुनिया की मोहब्बत के जैसे मैंने कहा था ना अतवा मिला कुल हसनात जब तकवा आता है तो सारी भूमियों को लाता है सर्दी आती है तो सारे गर्म कपड़े लाती है ऐसे ही दुनिया रस कुल्ली खतिया अल्लाह के रास्ते से जान बचाना बहने बनाना और, और सड़क जाना और कश्मीर वालों को बोलती बंद कर देना ये दुनिया की मोहब्बत के नतीजे में सर्दी आई स्वेटर लाई बगैर चिंता भी आगे के बटन वाला भी चैन वाला भी लाल लाई शाल लाई गर्म रुमाल लाई सर्दी आई तब वो आया रहे खुदा की नकल हर में आया चार महीने लाया अरे अपना नहीं लाया अरे भाई मेरे पास दो स्वेटर है एक तू भी ले ले मैं तो चार महीने को जा रहा हूँ तू भी चल जब तकवा आएगा तो डर लेकिन हब दुनिया राशकुल्ली खतिया दुनिया की मालूम तमाम नाक जो चीजें अल्लाह को पसंद नहीं इसीलिए अल्लाह पाक ने एक मतलब एक मौके पर हो ईमान वालो तुम्हें हो क्या गया है जब तुमसे कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में निकलो तो तुम जमीनों को रोड बन के बैठ जाते हो ये चमक चमक ये उछल ये तुम्हें पसंद आ गई उस आखिरत की नामातों के मुकाबले में जहाँ हफ्ते में एक दफे अल्लाह की ज्यारत और आला दर्जे के जन्नतों की दिन में दो मरतबा ज्यारत अल्लाह कुरान करके सुनाएंगे वो हुए वो उनके लिबास वो उनके पोशाक वो खाने वो लज्जे वो निर्माण उसके मुकाबले भी इस पर राजी हो गए आगे का बहुत जबरदस्त किस्म की ना इल्ला तनफिरू इल्ला तनफिरू يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا अगर इस तकाजे पर तुम खड़े न हुए और तुमने अल्लाह के रास्ते में निकलना अपने लिए बसर न किया तो सुनो अल्लाह तो बहुत गनी है अल्लाह तो बहुत बेनियाल है सारी दुनिया सज्जे में पड़ जाए तो अल्लाह अल्लाह है और सारी दुनिया उसका इनकार करिए तो उसकी खुदा की कोई शर्म नहीं तुम सारे निकल जाओ तो अल्लाह की मंजा जो करता है वो अपने लिए करता है चलता लेकिन याद रखना अगर तुमने बहाना बनाया और अपने को बचाया अल्लाह एक सजा तो ये देगा कि तुम्हारी जगह दूसरों को ला करके उनसे काम लेगा एक और तुम आजाब अलीमा की तफसीर में अलवान लिखा मुफसर ने जिस चीज को अल्लाह के रास्ते में निकलने में बहाना बना रहा है उसी चीज में ऐसा फंसा देंगे और ये ऐसा फंस जाएगा कि निकलते नहीं बने अल्लाह फरमाए अल्लाह फरमाए इस मत में कितने सालों से चार महीने चार महीने चार महीने सुने और फिर ये जो हमारा साल का इज्तिमा होता है उसके लिए कब से आवाज लग रही हर मस्जिद चार महीने की जमा और हफ्तों से आगे की नहीं दुनिया की जमीनें मुल्क के मुल्क जैसे गर्मियों में जमीन तपती है ना तो वो अंदर से कहती है पानी पानी पानी जब बारिश होती है तो ठंडा तो जमीन ठंडी हो जाती इस वक्त में लाखों ने करोड़ों करोड़ों इंसान मर के रास्ते अंदर से चीख रहे हैं खाना भी है पीना भी है कपड़े भी है मकान भी है गाड़िया कोई है जो हमें अल्लाह का तारुफ कराया कि अल्लाह कौन है उसके उदरत समझाए उसके खजाने समझाए ये साहबा किराम जुबानी कैसे आए थे और क्या हुए और दुनिया खयामत तक के लिए इंसानों के लिए नमूना करार दिया गया काहे पर सबसे पहले अल्लाह की उदरत समझाए अल्लाह के हजाने समझाए और जिस पर वो रल रहे थे मर रहे थे कर रहे थे उस दुनिया की हर नहीं कि अब ये जो चीजें हैं बताओ नहीं होगा थू थू जिस दुनिया में मर रहे थे उसका घिनौनापन बहाने से ज्यादा होगा कितनी गंदी गिर्री गई किसी और पे जा पूर्ण मिला आखिर वाले बनो मेरे दोस्तों हम चार बहन को सुन रहे हैं हर मस्जिद से और मस्जिद की जमात का मतलब मैं और आप ये समझ में हमने में से हर एक से इसलिए इस वक्त में हिम्मत करके ये तो तय है कि अल्लाह पाक आजमाना चाहते हैं कौन अमल को तरजीह देता है चीजों के मुकाबले अजीब बात जो चीजों के मुकाबले में अमल को अमल को मुकदम रखेगा उस चीज की के हाथ से निकलने को अल्लाह कुर्बानी करार देंगे और कुर्बानी पर सबसे पहली चीज जो मिलती है अल्लाह का कुर्ब मिलता है लोग बड़े बड़े लोगों के पास रहने को पसंद करते हैं अल्लाह समंदर जो मुझे याद रखेगा मैं भी उसके साथ अल्लाह ने सामान दिया है इसलिए इस वक्त में पूरा मरना सुकून के साथ बैठा रहेगा सिर्फ चार महीने की तस्करे हैं हिम्मत करके पैदल की भी है सवारी की भी है मुर्गों की भी है अंदर की भी है बाहर की भी है जान माल अल्लाह के लिए हुए हैं और उसी के लिए हैं आज तक के सताओं को अल्लाह माफ फरमा दे बेपरवाही और गफलत को माफ फरमा दे और आइंदा के लिए अल्लाह ऐसा कि इस वक्त जो खड़े होकर कि जिंदगी भर के लिए अल्लाह राय खोल दे हिम्मत करके फरमा खड़े खड़े ખડે रहो माना भाई खड़े रहो और जो खड़े हो गए वो खड़े रहे जैसा और खड़े रहो